ॐ वाङ्मे मनसि द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार होने जा रहा है द्वितीय मंत्र द्वितीय मंत्र प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र चल रहा था जिसमें कहा कि जो जीव अपने मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए जब पहुंचेगा कैसा पहुंचता है अरे वैराग्य दिखाने के लिए जीवों को वैराग्य हो जाए इसलिए कुछ अवस्थाएं दिखाना चाहते हैं उसको तीन जन्म दिखाना चाहते हैं कहाँ कहाँ रहता है किस किस तरह से रहता है चाहे स्वर्ग आदि भोग करके आया हो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाकर के वापसी हुआ हो चाहे पापादि कर्म करके चौरासी लाख योनि घूमता हुआ आया हो जो तरह से आएगा वो चाहे पुण्य कर्मा जीव होगा पूर्व जन्म का स्वर्ग आदि पुण्य कर्म होने के बाद वापस हो रहा हो अथवा चौरासी लाख जायस्व गृहस्व वाली जो स्थिति में है नारकीय योनि भोगते हुए क्रम से जो चौरासी लाख योनि घूम करके आए हुए हैं क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के अवस्था में उसको अन्नादि का आश्रय लेना पड़ता है जो तो अन्न अन्नादि मनुष्यों के द्वारा खाया जाता है ऐसा अन्न में आश्रित होना पड़ता है उसी को जब वो अन्न कूट कूट पीट करके खाते कोई पुरुष के शरीर में पड़ता है उससे अंतिम धातु रेत के रूप में वीर्य के रूप में संपन्न हो जाता है उसके साथ वो जीव होता है तो पुरुष के शरीर में जब रह जाता है वेद से अभिन्न होकर के बैठा हुआ है जीव उसके वो प्रथम गर्भ है पुरुष के शरीर से जो मातृ शरीर में निकल जाता है उस काल में उसका जन्म माना जाएगा प्रथम गर्भ वहां से फिर द्वितीय गर्भ को पास करेगा मातृ शरीर को पास करेगा दस महीने पूरा होने पर वहां से जो बाहर निकलता है तो द्वितीय जन्म हो जाता है उसका द्वितीय जन्म माना जाता है तो उस स्थिति में वो जो जो गर्भवती महिला होगी उसकी भी रक्षा करना उस पति का कर्तव्य होगा जो पति का गर्व उसने धारण किया हुआ है पति ही उस रूप में गर्भ रूप में वहां आया हुआ है वो भी माता उसकी रक्षा कर रही गर्भ की तो माता कब तक रक्षा करती है जब तक जन्म के पूर्व जन्म के पश्चात पिता उसका संस्कार करता है जात कर्मादि संस्कार करता है जो जात कर्मादि संस्कार करता है वो अपना ही संस्कार करता है कहना चाहता है क्यों वही पिता ही पुत्र रूप में आया है आत्मा में जायते पुत्र ऐसा कहा है स्वयं भी पुत्र रूप में पैदा होता है ऐसा कहा गया है तो भाष्य टीका चलनी है टीका में है पिता जातकर्माधिकम कर्तव्य विधि विदाय तत्समति ये कहा पिता के द्वारा जातकर्मादि संस्कार कर्तव्य है पुत्र का जो अभी अभी नवजात पुत्र है उसका पिता पिता के द्वारा जात कर्तव्य जातकर्मादि संस्कार पिता के कर्तव्य बनता है कथन करके तत्स्तौती वो जात कर्म क्यों करेगा वो अपना ही संस्कार करेगा उसके माध्यम से ये बोलना चाहते सपिता इत्यादि सपिता यद माने यस्मात अध्यम आगे जन्मरो आगे जन्म के पश्चात वो पिता कुमारम जन्मन जातम पूर्वम जात कर्मादि ना पिता भाव है पिता उसे संस्कार करता है हम्म, जात कर्मादि जात जात मात्र में वह जात कर्मादिना यह भाव है कि जो अभी अभी पैदा हुआ जो बालक है उसके जो जात कर्मादि संस्कार करके उसके संस्कार करता है तद आत्मान में भाव है वो अपने ही संस्कार करता रहता पितुर आत्मा ही पुत्र रूपेण जाते पिता का शरीर ही पुत्र रूप से पैदा हुआ है उसी के सारे अंगों का तेज पुत्र रूप में आया हुआ है तथा ये उत्तम पतिर्जायाम प्रविशति ऐसा आया है पति पत्नी में प्रवेश करता है मैंने पुत्र रूप से प्रवेश करता है पति जायाम प्रवेश जायाम द्वितीयांत है पति जाया में प्रविष्ट हो रहा है तत् किमर्थम आत्मान पुत्र रूपेण जनयित्वा भावित थी तो प्रश्न उठता है किस लिए अपने को ही पुत्र रूप से पैदा करना फिर आगे संस्कार करना क्यों करता है उनका तब किम अर्थम आत्मान पुत्र रूपेण जनयित्वा भावित थी वो पिता किस लिए अपने को ही पुत्र रूप से पैदा करना फिर आगे संस्कार करना क्यों करता है ये प्रश्न आया उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं ऐसा लोका नाम संतत्ययी ये लोग संतान की परंपरा का अविच्छेद के लिए विच्छेद न हो संतान परंपरा की धारा न टूटे इसके लिए है ऐसा लोकानाम संतत्ययी अभिच्छेदाय इस संतान परंपरा की धारा विच्छेद न हो इसके लिए ऐसा काम विक्षिपेण ही इमे लोका पुत्रोत्पादनादि यदि न कोई केचना कोई व्यक्ति यदि पुत्रोत्पादनादि नहीं करता है तो ये संतान परंपरा समाप्त हो जाएगी विक्षिदेरम ही इमे लोका इमे लोका विक्षिदेरम ये लोग नष्ट हो जाएंगे यदि पुत्रोत्पादनादि यदि न कोई केचना कुछ लोग पुत्र उत्पादन आदि नहीं करते हो तो ये लोग समाप्त हो जाएगा संतान परंपरा समाप्ति हो जाएगी इसके लिए स्वयं पुत्र रूप से पैदा होता है ये कहा एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म अविच्छेद कर्म अविच्छेद संतता प्रबंध रूपेण वर्तनते ही अस्मात इन्हीं लोका तस्मात तत् अविच्छेदाय तत्कर्तव्य मोक्षाय इसलिए पुत्रोत्पादनादि कर्म अविच्छेद के द्वारा ही निरंतर ये संतान परंपरा चल रही है पिता पुत्र को पैदा करता है पुत्र भी पुत्र को पैदा करता है ऐसा करके संतान के प्रवाह चल रहा है जिससे कि इमे लोग कहा ये लोग चल रहा है तस्मात तद अभिच्छेद आए इस परंपरा के अभिच्छेद के लिए तत्कर्तव्यम पुत्रोत्पादन करना चाहिए न मोक्ष आया मोक्ष के लिए पुत्र की आवश्यकता नहीं है ये संसार की रक्षा के लिए है भाष्यकार ने छह नंबर की टिप्पणी न मोक्ष तत्कर्तव्य छह नंबर टिप्पणी कहा विदित पुत्रोत्पादन पुत्रोत्पादन अवैध रूप से नहीं वैवाहिक स्त्री में होना चाहिए विधिवत होना चाहिए शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए पुत्रोत्पादन तो करना है ऐसा नहीं अवैध रूप से नहीं वैध रूप से होना चाहिए तदस्य संसारिणा कुमार रूपेण मातुर उदरात यद निर्गमन तद हेतु रूपापेक्षा द्वितीय धन ये दूसरा जन्म हो जाएगा उसका पहले पिता के शरीर से निकला था वो प्रथम जन्म था और मातृ शरीर से बाहर निकला दूसरा जन्म हो जाएगा संसार में घूमने वाले को संसार धर्म जीव का तदस्य अश्य तद संसारिणा कुमार रूपेण मातु उतरा यद निर्गमनम जो माता के पेड़ से बाहर निकल रहा है उसका तद रेतु रूपापेक्षा जो रेत पहले निकला था प्रथम जन्म था ये द्वितीय जन्म उसकी अपेक्षा करके शरीर में बाहर आया और द्वितीय जन्म है बाहर माने द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है उसकी दूसरी अवस्था है की अभिव्यक्ति हो गई कहा सात के टिप्पणी कहा मातृ शरीर द्वितीय आवश्यकता दो बार वो उसका निवास स्थान हो चुका है एक बार पितृ शरीर में दूसरी बार मातृ शरीर ये कहा टिप्पणी में बता रहे मातृ शरीर उपद्वितीय आवश्यकता अवस्थिति अभिव्यक्ति त्रयो आवश्यकता बोला हुआ था इसके तीन रहने का स्थान है बोला था पहला पितृ शरीर फिर मातृ शरीर अब स्वयं अपना शरीर आएगा बाहर आने मातृशरीरोपटित्या द्वितीय अवस्था अवस्थिति अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यही है इसलिए कहा ठीक है देखें गर्भो भूतवा समातरम तस्याम पुनर्भो भूतवा दशमी जायती मंत्र से तो मंत्र में कहा था जायाम प्रविशति ये मंत्र दिया हुआ है तो इस मंत्र का आगे पूरे श्लोक मंत्र पूरा करते हैं क्या करते हैं जायाम प्रविशति गर्भो भूतवा समातरम तस्याम पुनर्नभो भूतवा निवासी जाएगी ऐसा पूरा मंत्र इस प्रकार है कहा पति गर्भो भूतवा जायाम मातरम जो जाया है पत्नी वो माता बन जाएगी आप गर्भो भूतवा तस्याम पुनर्भो भूतवा स वो पिता उसमें फिर नया बन करके उस गर्भ में नया बन करके पत्नी माता रूप में हो गई गर्भ में जाने के बाद फिर उसमें नया बन करके दसम मासी जाए तो फिर दसम महीने में फिर पैदा हो जाता है वो पिता माने माता पत्नी के उदय में प्रवेश करके दसम महीना में फिर नया बन करके पैदा होता है ऐसा मंत्र से विषय कहा मोक्ष प्रकरण पुत्रोत्पादन से विधान विधान पुत्रोत्पादन मोक्ष साधन अभिप्राय पूर्वादि पूछता है महाराज ये मोक्ष प्रकरण ज्ञान प्रकरण है संसार के प्रकरण में नहीं है मोक्ष प्रकरण चल रहा है उसमें पुत्रोत्पादन से विधान पुत्रोत्पादन का विधान यह बताया इसलिए होने से पुत्रोत्पादन मुख्य साधन पुत्र का उत्पाद उत्पादन करना मोक्ष का साधन है ऐसा जान पड़ता है इति अभिप्राय इस अभिप्राय से पूर्वादी पूछता है मैंने पुत्र पैदा करने से मोक्ष होगा ये पूछता है पूर्वादी एक कहा तत्किमर्थम आत्मान पुत्र जन अभाव तो स्वयं को ही वो पिता पुत्र रूप से पैदा करके क्यों संस्कार करता है क्या इससे मोक्ष मिलता है क्या तो पिता जो स्वयं को ही पुत्र रूप से पैदा करना फिर संस्कार करना क्यों करता है तो प्रश्न आया था एक रथ से उत्तर देंगे ठीक है मोक्ष तो नहीं मिल रहा है पुत्र से कह रहे हैं न कर्मा न प्रजया धने ऐसा कहा है हम्म। न प्रजया न कर्म न कर्मणा न प्रजया धन न त्यागे नहीं के अमृत आंसू ऐसा वृद्धार में स्थिति है कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं होता अग्निहोत्र आदि कर्म करने से मोक्ष होने वाला नहीं है न प्रजया संतान उत्पन्न करने से भी मोक्ष होने वाला नहीं है यदि संतान उत्पन्न करने से ही मोक्ष होता हो पहले तो सुअर को करके बहुत सारे संतान पैदा कर देते हैं उनके मोक्ष होना चाहिए नहीं होता न धने लौकिक वैदिक धन प्राप्त करके भी होने वाला नहीं है मोक्ष मिलने वाला नहीं है त्यागे न एक अमृतत्व मानसी कहा है त्याग के द्वारा ही जो लोकेश पितेश पुत्रेश ऐसे तीनों दिशाओं का त्याग जो कर सकता हो कोई त्याग रूप साधन से ही मोक्ष प्राप्त होता है ऐसे कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया ऐसा कहा न कर्मणा न प्रजया धननी आदि स्तुतेर मोक्ष प्रकरण पुत्रोत्पादन होते वैराग्य था इसलिए मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है फिर यह पुत्र उत्पादन की जो प्रक्रिया बताई जा रही क्यों इसको वैराग्य किस स्थिति में व्यक्ति कहां कहां पहुंच करके फिर उसके मनुष्य शरीर प्राप्त करता है किस स्थिति में गुजरना पड़ता है घृणित अवस्था दिखा करके शायद उसकी वैराग्य हो जाए इसके लिए यहां बताया जा रहा है जैसे दानी तो कहते हैं न कर्मा न प्रज्ञाधान इत्यादि श्रुते मोक्ष प्रकरण पुत्र पादमोक्तिर वैराग्या था ये मोक्ष प्रकरण जो पुत्र उत्पादन की प्रकृति प्रक्रिया बताई जा गई है ये वैराग्य के लिए है इसका प्रयोजन वैराग्य हो जाए इस साधक जीवन में जीव इसके लिए है यदि अभिप्रेत्य प्रकृत्य स्मृतिया उत्तर इसी स्मृति के द्वारा उत्तर देना उच्चते कर कहा किसके लिए ये संतान की चर्चा आई कहते ऐसा लोकाना संतत्य ऐसा स्थिति में लिखा है और यह संतान परंपरा की विच्छेद न हो जाए इसके लिए संतान पैदा लोक चलता रहे ऐसा लोकानाम संतत्य मैंने अविच्छेदा यह संतान परंपरा की विच्छेद न हो इसके लिए पुत्र उत्पादन करना है ये मोक्ष के लिए विच्छिदेरम ही वे लोग पुत्रोत्पादन आदि यदि कहा कुछ लोग यदि पुत्रोत्पादन नहीं करते हैं तो स्थिति में क्या होगा तो ये तो संतान परंपरा नष्ट हो जाएगी यही है ठीक है कहते हैं अत्र लोक शब्द है ना यहां लोक शब्द से क्या लेना है पीछे दे रहे आप बोला लोक माने क्या लोक शब्द अत्र लोक शब्द है ना लोक साधन भूता पुत्र पौत्रादय लोक के साधन भूत है पुत्रेण लोको जय्या ऐसा है इस लोग को जीतना हो तो फिर यहीं बैठना हो तो पुत्र रूप से पैदा होना पड़ेगा आपको पुत्र रूप से पैदा जीतना है आपने श्लोक को जीतना फिर यहीं बैठना चाहते हैं तो पुत्र रूप से पैदा होना पड़ेगा पुत्र हाँ, लोक हो जाइया कर्मा पितृलोक लोग ऐसा कहा कर्म से स्वर्ग मिलना है अग्निहोत्रादि से और उपासना करेंगे तो ब्रह्म लोग यही तो तीन साधन है तीन लोग के जीतने का ही साधन है इस लोग को जीतना हो तो पुत्र रूप से स्वयं पैदा हो जाओ और स्वर्गलोक जीतना हो तो <clears throat> कर्म करो अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म करो और ब्रह्मलोक प्राप्त करना हो तो उपासना करो यही है पुत्रोत्पादन है अत्र लोक शब्द है ना लोक साधन होता है यहाँ लोक शब्द लोक के साधन है लोक प्राप्ति के साधन है पुत्र आदि लोक साधन होता पुत्र पौत्र आदि तो पुत्र पौत्र आदि परंपरा चलती रहेगी तो लोक जीतता रहेगा तेसाम संतत्य उनकी परंपरा सिद्धि के लिए ही यहाँ पुत्रोत्पादन की चर्चा है मोक्ष के लिए नहीं पुत्रोत्पादन नहीं भक्ता नाम नाम सतत सतत संतत तत्व प्रसिद्धम यदि भक्तुम एवं संतता ही इमम यदि इमम वाक्यम तत्व्याच पुत्र उत्पादन के माध्यम से ही इन लोगों की परंपरा बनी रहती है संतान परंपरा बनी रहेगी इसलिए यही कहने के लिए एवं संतता ही इमे लोका इत्यादि मंत्र में वाक्य है इस प्रकार ही निरंतर बने रहते हैं पिता पुत्र पैदा करता है पुत्र पुनः पुत्र पैदा करता है संतान परंपरा बन जाएगी ऐसा कहा एवं इत्यादि भाषण में गाय को एवं पुत्रोत्पादनादि कर्माभिच्छेद नहीं भाव पुत्रोत्पादनादि जो कर्म है उसके अभिच्छेद के द्वारा निरंतर धारा चल रही है पिता से पुत्र पैदा होगा पुत्र से पुनः पुत्र पैदा होगा फिर पुत्र पैदा होगा चल रहा धारा चल रही है इसके द्वारा ये संतरा मैंने प्रबंध रूपे निरंतर चल रहा है यद्यपि सभी नाशवान है किंतु तो धारा निरंतर चलती है धारा नित्य हो जाती है सभी अनित्य है किंतु परंपरा नित्य हो जाती है धारा संतदा प्रबंध रूपेण बर्तनते निरंतर रहते हैं संत यशमाल इमे लोका तस्मात अविच्छेदाय तत्कर्तव्य मोक्षा इसलिए ये लोक बने, बने रहे संतान परंपरा बनी रहे इसके लिए पुत्रोत्पादन करना चाहिए मोक्ष के लिए आवश्यकता नहीं ये कहा ठीक है हमें कहते हैं स्वयं पुत्रोत्पादन विदिता कृदेश अभियान अपने द्वारा पुत्रोत्पादन विधि रूप से विधान वैध रूप से पुत्रपादन करने पर अवैध रूप से नहीं स्वयं अपने द्वारा पुत्रोत्पादन विदिता पुत्रोत्पादन कृदय सती वैध रूप से पुत्र उत्पादन करने पर स्वपुत्रों की तथा तत्पुत्रों की तथा फिर वो भी उसी प्रकार से वैध रूप से पुत्र प्राप्त करेगा फिर आगे वो भी दूसरा पुत्र भी आएगा पुत्र का पुत्र वो भी ऐसे करेगा एवं लोक संतति भवती है फिर इनकी परंपरा बनी रहेगी इसके लिए पुत्रोत्पादन से लोक संतर एवं प्रयोजन पुत्रोत्पादन का प्रयोजन एकमात्र है संतान परंपरा बनी रहेगी और कोई प्रयोजन नहीं पुत्रोत्पादन से लोक संतति रेप प्रयोजन बदंती स्मृति ऐसे कहने वाली जो स्मृति है कहने वाली स्मृति के द्वारा तस् मोक्ष साधन में व्यवस्था उस स्मृति के द्वारा क्या हो पुत्र से तस् मारे पुत्र से वो पुत्र को मोक्ष साधन तो नहीं है ये गिरस्त हो जाता है कहा न मोक्ष है गर्भ ही होता है एवं प्रसंगात गर्भ गर्वे धारणादि विधि मुक्वा प्रकृतम वैराग्यार्थम द्वितीय जन्म दर्शयती का इस प्रकार प्रसंग से गर्भ में धारण करना आदि स्वयं पहले अपने गर्भ में धारण करना है उसको जो अनुषयी जीव आया हुआ है अन्न के माध्यम से पहले पिता के रूप में पिता ने अन्न भोग मुक्त किया है उसके सप्त धातु के परिणत रूप में धीरे रूप में वहां पर पड़ा हुआ है स्वयं गर्भ धारण करके बैठा हुआ है फिर दूसरी बात स्त्री गर्भ धारण करती उसी को वहां से निकलता है इत्यादि कहा था एवं प्रसंगात गर्भे धारणादि विधि होता किस प्रकार धारण किया जाता है गर्भ में ये कथन करके प्रकृतम वैराग्यार्थम द्वितीय जन्म दर्शन ये प्रकरण वैराग्य के लिए है ये मोक्ष प्रकरण में पुत्र उत्पादन की कोई चर्चा नहीं होती है वैराग्य के लिए है साधकों के बंद वैराग्य आदि देख करके इसके लिए अब द्वितीय जन्म दिखाते हैं कहते हैं ये कहा तदस्य संसारिण कुमार रूपेण मातुर उदरात एक निर्गमनम तद रेतो रूपापेक्षा द्वितीय जन्म ये कहा तो जो अभी माता के पेट से जो बाहर निकलता है माता के कुक्षी से बाहर निकलता है वो गर्भ कुमार रूप से अब एक बालक के रूप में आ जाता है तो वह बाहर निकलना तो रेत रूप से पिता के शरीर से जो बाहर निकला था मातृ शरीर में जाते समय एक पहला जन्म था उसकी अपेक्षा दूसरा जन्म है ये बताया अच्छा आगे मंत्र है स्वस्य आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीये हताश्यायम इतर आत्मा कृतकृत्योपयोगतो भयोगतः प्रईति स इतः प्रयमेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म स्वस्ययमात्मा पुण्य कर्म प्रतिधीयते अथाश्ययम् इतरात्मा प्रईति प्रैति स इतः प्रयमेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म अश्य पितु स अयम आत्मा इस पिता का वो जो आत्मा है शरीर पुत्र रूप से पैदा हुआ शरीर आत्मा मैंने शरीर या शरीर है आत्मा आत्मा मने पुत्र देह ऐसा टिप्पणी किया है शरीर है अश्य मैंने पितु इस पिता का स्व अयम आत्मा वही इस प्रकार से आया हुआ शरीर है पहले पितृ शरीर में पड़ा उसके बाद मातृ शरीर में पड़ा बाहर आया हुआ सो अश्य पितु स अयम आत्मा यही जो शरीर है पुत्र शरीर पुण्यभ्य कर्म पर प्रतिनिधि कर्म पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है पिता पुत्र को प्रतिनिधि बना देता है पुण्य कर्म के लिए मृत्यु पवित्र संस्कार आदि कराता है पुण्य कर्म के अधिकारी बना देता है कर्म कर्मभ्य प्रतिनिधि प्रतिनिधि बना दिया जाता है उसको हर पुत्र को और उसको प्रतिनिधि बनाने के पहला क्यों बनाते हैं तो कहते आगे अथा अश्य अयम इतर आत्मा अब जो अश्य माने पुत्र शेष पुत्र का जो दूसरा आत्मा है पितारूप आत्मा पितारूप शरीर है कृत्य कृत्य जो कुछ करना है उसने कर लिया अपने जीवन में सारा कर्म करके दे, माने देव ऋण ऋषि ऋण पितृण चुका दिया सब काम कर दिया कृतकृत्य हो गया कृत्यम कृतम एवं सा कृतकृत्य जिसने कर्तव्य कर लिया उसको कृतकृत्य हो गया वयोगत आयु चली गई उसकी अब गता आयु है गतो वय है प्रति जब यहां से निकलता है प्रकृष्ट एति प्रति विशेष रूप से जाता है अब दिखेगा नहीं पहले तो जाता था थोड़ी देर बाद वापस आता था बाजार जाता था कहीं जाता था आता था अब के बार गया तो कहा गया उस रूप में नहीं आएगा रूपांतर में तो आ सकता है बाद में फिर पहचान नहीं होता उस रूप में नहीं आता इसलिए प्रेत बोलते हैं उसको प्रकृष्ट इत प्रेत लोग में प्रेत शब्द का अर्थ कुछ अलग ही मानते हैं अच्छा नहीं मानते हैं किंतु प्रेत माने विशेष रूप से गया हुआ है इतने अर्थ आता है व्याकरण की दृष्टि से इणगतो धातु है निष्ठा करते हैं पिता गत प्रकृष्ट विशेष रूप से गया पहले तो आता जाता था सब्जी लाता बाजार जाता था वापस आता था यात्रा में जाता था वापस आता था अब की बार की यात्रा में वापस आता नहीं इसलिए तो प्रेत बोला है बात इतनी है प्रेत प्रेत से डरते हैं लोग किंतु डरने की बात ही नहीं है विशेष रूप से गया हुआ अब उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता यही है वेदना ते तो कहा सो अश्य अयम आत्मा पुण्य कर्म तो प्रतिनिधि है अश्य माने पितु इस पिता का जो दूसरी अभी आत्मा माने शरीर आत्मा शब्द का प्रयोग कभी शरीर में होता है कभी मन में भी होता है आत्मा समय में वो नाम ष्टोध्याय गीता में कहते हैं आत्मा का क्या समय में करेंगे आत्मसमय मन संयम आत्मसमय तो मन में प्रयोग होगा अभी यहां आत्मा शब्द शरीर के लिए प्रयोग है अश्य इस पिता का स्व अयम आत्मा वही यह आत्मा मैंने शरीर पुत्र शरीर जो इस प्रकार से अभी बाहर आया हुआ है पुण्यज्ञ कर्म तो प्रतिनिधि वो पुत्र शरीर जिसमें प्रतिनिधि बनाया जाता है उसको पुण्य कर्म के लिए अथ अश्य अयम इतर आत्मा अश्य माने वहां पुत्र इस पुत्र का जो प्रतिनिधि बन जाता है पुत्र उस पुत्र का ये जो अनंतर ये जो आत्मा है अथ माने अनंतर ये जो दूसरी आत्मा है पितारूप आत्मा शरीर पिता का शरीर कृतकृत्य जो कर्तव्य पूरा कर लिया जिसने ऐसा होगा है वो सारा काम कर लिया है माने मनुष्य शरीर में आने का कारण ये होता है कि पितृण देव ऋण मन ऋषि ऋण चुकाना होता है तो उसने सारा काम कर लिया अब पितृण के लिए पुत्र पैदा कर दिया श्राद्धादि उड़ता करता रहेगा आगे के लिए पितरों को पिंड तर्पण आदि मिलता रहेगा ऋषि ऋण स्वाध्याय के द्वारा चुका दिया है देवऋण यज्ञानी के द्वारा चुका दिया है उसने तो कृतकृत्य हो गया है तीन ही ऋण से तो आगे मुक्त होना है उसको मुक्त हो चुका है इसलिए वयोगता आयु भी चली गई उसकी अब इसलिए प्रयुक्ति अपहरणाश्रम दशा में पहुंच जाता है स इत प्रयन एवं वो यहां से जब जाता हुआ होता है तो एवं पुनर्जाए के फिर आगे दूसरा जन्म लेता है वो जो पिता रूप शरीर यहां से शरीर छोड़ दिया वो जीव फिर एक जन्म और लेगा पुनर्जन्म पुनर्जाएंगे तदस्य तृतीय जन्म उसका एक तृतीय जन्म है या कैसे होगा पहले दो जन्म तो पुत्र रूप में आया होगा कहा था पिता के शरीर में जो आया उसके दो जन्म होता है अब ये जन्म तो पिता का है तो कैसे होगा पिता पुत्र को एक मान करके अभेद मान करके पिता ही तो आया होगा तो एक ही है ऐसा दिखाएंगे अभी भाष्य चर्चा करेंगे ये तृतीय जन्म है जीव की तृतीय जन्म इस तरह से उत्ती है कहा जन्म होता है बता दिया टिप्पणियां हैं एक से लेकर पांच पांच तक है एक में कहा आत्मा मैं पुत्र देह अश्य सो अयम आत्मा अश्य माने पितु सो अयम आत्मा वही जिस चीज की चर्चा चल रही है वही आत्मा पुत्र शरीर यह दो नंबर का अथ शब्द आया अथ माने प्रतिनिधि करने के बाद प्रतिनिधि बनाने के पश्चात अथवा अनंतर अथवा प्रतिनिधि करना अनंतरम ये बता दिया आगे अश्य अयम इतर आत्मा कहा मैंने इतर मैंने पुत्र देहा अन्य पुत्र शरीर से अन्य कौन पितृ शरीर यही होगा वह आत्मा कृतकृत्य हो गया है कृतकृत हम्म। आत्मा ने चार नंबर में कहा था पितृ शरीरम स्थविरम वृद्ध हो गया है स्थविर हो गया ऐसा शरीर है हाँ। पांच नंबर की कवि है उसमें कहते हैं कृत्यम ऋण त्रय मोचन रूपम कृतम एना कृत्यम कृतम एना कृत्य क्या है तीन ऋण चुकाना था वो कृत्य था वो कर चुका दिया जिसने ऐसा है ऐसा पिता अच्छा तृतीय फिर आगे चला जाता है तो तृतीय जन्म हो जाता है फिर आगे जाके जहां पहला होगा तृतीय जन्म हो जाएगा ये कहा ठीक से देखें एवं पितृ शरीर अत्यंत असूचक क्यों यह बैराग्य के लिए क्या चर्चा कर रहे थे कहते हैं पिता के शरीर में ऐसी अपवित्र स्थान में पड़ा हुआ था पिता के जो अपवित्र रेत है वीर है उसके साथ एक होकर के बैठा हुआ तो जीव बैराग्य के लिए एवं पितृ शरीर अत्यंत असूच अत्यंत अपवित्र जो पितृ शरीर है पितृ शरीर हड्डी मांस का पुतला है उसमें पड़ा हुआ तो जी अत्यंत अशुच अत्यंत अशुचि रेतु पहले तो पितृ शरीर ही अपवित्र है उसमें भी जो भीतर में उसके शरीर के भीतर रेत है वीर है वो अत्यंत अपवित्र है एवं पितृ शरीर अत्यंत अशुच अत्यंत अशुचि रेतु रूपेण अवस्था हम अत्यंत जो अपवित्र वस्तु रेत उस तद्रूप से रहना एक दूसरा तत्व भी निर्गमन वहां बैठा भी नहीं रहता कुछ काल के बाद निकलना होता उसको फिर मातृ शरीर में पहुंचेगा वो तत्व भी निर्गमन तथो मातुर उदरे मूल मूल मलमूत्राक्रांति विष्टा कृमिवत अवस्थान फिर आगे माता के शरीर में भी जहां वो रहता है क्या स्थिति है मलपुत्र से आक्रांत है घिरा हुआ है मलमूत्र थैला है जहां वो उसको बैठना है विष्टा कृमिवत जैसे विष्ठा के में बैठने वाला कीड़े के समान पड़ा हुआ है विष्ठा में जो कीड़ा बैठा होगा जिस तरह से स्थिति उसकी होगी वैसी स्थिति में पड़ा हुआ है अवस्थान फिर उसके पश्चात तत्व तो योनि द्वारा निर्गमना फिर दस महीना होने पर माता के योनि से बाहर निकलना स्थिति है इत्यादि निर्गमन च इत्यादि अत्यंत कष्टम यह अत्यंत कष्ट अवस्था है अगर विचार से कोई देखेगा विचार से इसका विचार करेगा निष्कर्ष निकालेगा बहुत कष्ट स्थिति है इसलिए आगे शरीर न हो इसके लिए उपाय करें यही वैराग्य विचार इति उपवा ऐसा कथन करके जन्मांतर में भी न स्वातंत्र में आगे जन्म होने के बाद भी स्वतंत्रता नहीं है उसकी फिर पिता प्रतिनिधि बना देगा कर्म करने के लिए तो कर्म करो जन्म होने के बाद मातृ शरीर से बाहर निकले तो स्वतंत्रता मिल जाए तब जन्मांतर में भी जन्मना अंतर में भी जन्म के पश्चात भी न स्वातंत्र किंतु पितृनियोगा पितृ की आज्ञा हो जाती है पिता बोल देता है हाँ, तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग इत्यादि बोल देगा अरे वेद तुम हो वेद विहित कर्म तुम हो और कर्मजन्य फल भी तुम हो मैं जो वेद पढ़ता था आगे तुमने पढ़ना है मैं जो एक करता था आगे तुमने करना है और एक का फल जो मैं भोगना था आगे तुम भोगोगे तुम ब्रह्मा तुम लोग यज्ञ तुम लोग ऐसा चलता आता है प्रतिपत्ति कर्म वृद्धार ऐसा आता है सौंपना है कर्म सौंपना है उसका अन्य पिता पुत्र को ऐसा भोगता है अंतिम अवस्था है ऐसा तो जन्मांतरम अभी न किंतु पितृण योगा पिता के आज्ञा से तत्पारतंत्र पिता के द्वारा परतंत्र होकर के सर्वदा कर्मानुष्ठातव्य जन्म के बाद भी कर्म ही करते रहना उसने वहां भी स्वतंत्र नहीं होना है पहले ऐसे ऐसे अपवित्र स्थान पर बैठ के आया हुआ है जन्म हो गया बाहर आया फिर भी कर्म करते रहेगा कर्म कर्म कर्म अनुष्ठात वृद्धि भदन ऐसा कहती हुई स्तुति पुत्रेण कर्तव्य पितुर उपकार दर्शेगी पुत्र के द्वारा जो कर्तव्य है पिता का उपकार वो दिखाना चाहते हैं सो अश्य तरव्याचस्ते इत्यादि कहा सो अश्य सो अश्य अयम आत्मा इत्यादि कहा था उसी की व्याख्या करते हैं बताया दस ग्यारह में टिप्पणी है दस में कहा सो अश्य वाक्य है मंत्र में जो सो अश्य आत्मा इत्यादि वाक्य है इसके द्वारा व्याख्या करते हैं कहा तत्माने वाक्यम उस वाक्य की व्याख्या करते हैं बताया भाष्य में कहते हैं अश्य पितु इस पिता का अश्य मन पितु जो तो पहले वाला अश्य मंत्र पितु इस पिता का स्वयं पुत्रात्मा ये इस तरह से आया हुआ पुत्र रूप शरीर है पिता के शरीर में पड़ा रहा फिर माता के शरीर में पड़ा रहा उसके बाद वो बाहर आया ऐसा जो पुत्र रूप शरीर है इस पिता का वही जो पुत्र जिसकी चर्चा चल रही है पुत्र पुत्र शरीर है पुण्यभ्य शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य पुण्य कर्म क्या है शास्त्रोक्त कर्म जो होगा शास्त्र में जैसा कहा वैसे कहा ये शास्त्रीय कर्म होता है तो यज्ञ मैंने शास्त्रीय कर्म के लिए कर्म निष्पादनार्थम शास्त्रीय कर्म के संपन्न कर, संपन्नता के लिए प्रतिधीयते है उसको प्रतिविधि बनाया जाता है या प्रति आगे धा धातु है कर्म ही प्रयोग कर दिया है किंतु नी लगा देंगे तो प्रश्न हो जाएगा प्रतिनिधि कर्म ही प्रयोग है प्रतिनिधि बनाया जाता है उसको कहा क्यों वैदिक कर्म चलता रहे पिता यही चाहता है मैं कर रहा था आगे ही करे कर्म निष्पादनार्थम कर्म की निष्पन्नता की संपन्नता के लिए कहा आठ ने कहा कौन से कर्म होगा तो वैदिक कर्म अग्निहोत्रादि कर्म है वो होता रहे इसके लिए तो प्रतिनिधि बनाया जाता है क्या पितृस्थान है पिता पिता के स्थान में उसको प्रतिनिधि बना दिया जाता है पितरा किसके द्वारा पितरा यद कर्तव्य तब करा है पिता के द्वारा जो कर्तव्य था आगे उसको करना है इसके लिए उसको उस स्थान में बैठा दिया जाता है प्रतिनिधीयते प्रतिधीयते का अर्थ ऐसा कर दिया नौकरी के ने कहा प्रतिनिधित्व न स्थापित उसको प्रतिनिधि रूप से बैठाया जाता है पुत्र ये बताया तथा तथा च संप्रति विद्यायाम बाधन एक संप्रति प्रति विद्या है अंतिम काल में उपदेश पिता का उपदेश आज भी कुछ सज्जन समाज में जब अंतिम समय होता है तो पुत्र लोग आके कुछ उद्देश्य मांगते हैं पिता से ऐसा परंपरा है कुछ साल की ये संप्रतिपत्ति कर्म कहता कहा जाता है अंतिम समय में कुछ उपदेश देना पिता जब परलोक जाने वाले होंगे तो पुत्रों को कुछ उपदेश देना होता है उपदेश माने ये नहीं उसके पास इतना धन है उसके पास ये है ऐसा लेना देना ये उपदेश नहीं करना है ये तो लौकिक है ये नहीं तो क्या उपदेश करेगा नहीं ने कहा है पिता अनुशिष्ट पिता पहले उपदेश करेगा उसके बाद पिता के द्वारा अनुशासन प्राप्त हुआ पुत्र बोलता है अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ अहम लोका इस तरह को बोलता है पहले पिता बोलेगा वहां तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोका ब्रह्म मान वेद ब्रह्म शब्द का कभी माया कभी वेद हाँ, ऐसा होता है कभी सविशेष ब्रह्म कभी निर्विशेष ब्रह्म कहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग है प्रकरण का आधार पर अर्थ निकालना होगा जब मम योनिर्मह ब्रह्म तस्वीन गर्भम दधा में हम संभव सर्वभूता नाम तत्व भक्ति भारत गीता के चतुर्दश सत्या में ब्रह्म शब्द देखते प्रकृति को कहा वहां कोई निर्विशेष ब्रह्म को नहीं कहा ऐसा है और ब्रह्म शब्द का अर्थ भेद जैसे ब्रह्मचारी शब्द में जो ब्रह्म शब्द होता है ब्रह्मणी चरितुम शीलम यश्य ब्रह्मा चरितुम शीलम यश्य ब्रह्म में ब्रह्म का आचरण करने का स्वभाव हो गया माने वेद पढ़ना जिसका स्वभाव बन गया उसको ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्मण शब्द ऊपर रख करके चल धातु से ऋणी प्रत्यय किया शुक्र ऋणी ऋणिष्ठाक्षी तो ब्रह्मचारी में ब्रह्म शब्द वेद के लिए कहा है ब्रह्म माने वेद कभी ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण जाति भी होता है तो प्रकरण के आधार पर अर्थ करना होगा प्रकरण के अनुसार इन्हें कहीं का कहीं अर्थ नहीं करना या तुम ब्रह्मा करके बोलेगा मैंने तुम वेद हो जो वेद चाहिए यज्ञ आदि बताएगा वेद फिर वेद विहित कर्म करने वाला होगा फिर आगे लोक प्राप्त करने तीन ही तो होते हैं ये यही है इसलिए कहा तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोक ऐसा उपदेश करता है पिता प्रतिपत्ति का सौंपना तो कहा तुम वेद हो और वेद विहित कर्म तुम हो अथवा वेद विहित कर्म का फल जो लोग प्राप्त करना तुमने ये कहा जाता है माने मैं जो आज तक वेद पढ़ता था आगे तुमने पढ़ना है अर्थ यह आएगा और जो मैं वेद विहित कर्म कर रहा था आगे तुमने करना है और जो वेद विहित कर्म का फल जो पहले मैं भोगता था अब तुमने भोगना है ऐसा उपदेश करेगा ये शास्त्रीय उपदेश ऐसा होता है तो वृद्धार्मिक उपनिषद में ऐसा आया पितरा अनुशिष्टा है पिता के द्वारा अनुशासन माने उपदेश प्राप्त पुत्र बोलता है अहम ब्रह्म अहम विद्या अहम योग इत्यादि इत्यादि थे ऐसा प्राप्त करता है ये कहा ठीक है सर पितुर दो आत्माओ देह स्वदेह पुत्र देह कहते हैं पिता के जो है ना दो शरीर है हाँ, दो आत्माओं देहो आत्मा मन देह पिता के दो शरीर हो गया है पितोर दो आत्मानो देहो पिता के दो शरीर आत्मा माने शरीर दो शरीर है कौन स्वदेह पुत्र देह अच्छा, एक तो अपना ही शरीर है और एक पुत्र का शरीर दो शरीर है जो पिता ही पुत्र रूप से पैदा हुआ है अभी तत्र पुत्र से उपयोग हाँ, अब यह पुत्र का उपयोग क्या है क्यों पुत्र रूप से पैदा होता है क्या काम करना पड़ा उसको अपने से क्या पूरा नहीं हो पाया तत्र पुत्र से उपयोग उसमें पिता पिता रूप से तो जो कुछ करना कर लिया और पुत्र रूप से जो कर्तव्य होगा वो उपयोग होना है उसको बता उपयोग माने प्रतिनिधित्व रूपम फलम प्रतिनिधि बनाया जा रहा है उसका क्या उपयोग होना है इसके बताना चाहते सोयम इत्यादि कहा सोयम सोयम पुत्रात्मा पुण्यभ्य शास्त्र प्रोक्तव्य कर्तव्य कर्म निष्पादनाथम प्रतिनिधि पितुष्ठाने पिता यद कर्तव्य तत्कर्णाय प्रतिनिधि निधीयते कर्तव्य कहा वो जो वही पुत्र जो पूर्वोक्त पुत्र है जिस चल रहा है वो पुत्र पुत्र रूप शरीर पुण्यव्य कर्म शास्त्र कर्म तो शास्त्रीय कर्म को पुण्य कर्म कहा शास्त्रोक्त कर्म के लिए वो कर्म के निष्पादन करने के संपन्न करने के लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है पिता के स्थान में पिता के द्वारा उसको रख दिया जाता है स्थापित कर दिया जाता है तत्कर्मा है शास्त्रीय कर्म करने के लिए माना शास्त्रीय कर्म का लोप न हो इसके लिए तत्कर्मा है प्रतिनिधि इत्यादि कहा प्रतिनिधि बनाया जाता है ठीक है पुत्र से प्रतिनिधित्व अन्यत्रा भी उत्तम विद्या पुत्र का जो प्रतिनिधि की बात है जैसे यहां अभी चर्चा आई अन्य में भी है वृद्धार्मिक उपनिषद में भी है पुत्र को प्रतिनिधि बना वहां भी आया कहा तो संप्रतिपत्ति विद्या है वहां अंतिम समय में पुत्र के लिए कुछ उपदेश देना है संप्रतिपत्ति विद्या उसमें आया संप्रतिपत्ति माने संप्रदानम समपूर्वक प्रपूर्वक दा धातु है उसे तीन प्रत्यय करेंगे तो संप्रतिपत्ति बना होगा और ल्यूट करेंगे तो संप्रदान हो जाएगा बात है कि भाव में प्रत्यय तीन हो चाहे ल्यूट हो संप्रतिपत्ति ऐसा है अच्छा उपसर्गात्ता से गा को तब आदेश हो गया इसलिए बना है संप्रतिपत्ति मैंने संप्रदानम स्वकर्तव्य स्वकर्तव्य से पुत्र स्थापनम अपना जो कर्तव्य था दायित्व दूसरे को देना पुत्र को देना यही संप्रतिपत्ति होता है संप्रदान कर अपने कर्तव्य दूसरे को देना यह संप्रतिपत्ति है ये कहा तो यत्र उच्चते जिसमें कहा जाता है उसको कहते हैं संप्रतिपत्ति विद्या संप्रतिपत्ति और विद्या भी तो बहुरी समास है संप्रतिपत्ति यत्र उच्चते संप्रतिपत्ति विद्या कहा संप्रति विद्या में कहा है समय में पितरावशुष इत्यादि तो वहां ऐसा मंत्र आता है बात वृद्धान क्या मंत्र आता है यदादु प्रेषण मान्य जब इस श्लोक से बाहर जाने के समय हो गया ऐसा मानता है पिता जब व्यक्ति ऐसा मानता है प्रकृष्ट ईश्वर प्रेषण यशन मन्यते ऐसा मानता है कि अब शरीर छूटने वाला है अब वैदिक कर्म मेरे से होना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में पहुंचता है यदा तो प्रेषण दे जब मरण का समय समझता है उस स्थिति में स्वच्छ परलोक गमन निश्चित होती है प्रेषण मन्यता अपने को परलोक गमन निश्चय करता है मेरा दूसरे शरीरांतर में जाना है ऐसा मानता है जब निश्चय करता है अतः पुत्रम आह उस स्थिति में पुत्र को बुला करके बोलता है कहता है पिता तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक ऐसा बोलता है तुम ही ब्रह्म हो तुम ही यज्ञ हो तुम ही लोक हो ऐसा पिता का शब्द है ये बोलता है माने यह ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है यज्ञ तो यज्ञ ही है और लोक माने फल कर्म फल है यज्ञ का फल ये होगा कहते हैं इसका अर्थ ये होता है मया अध्येतव्यम ब्रह्म वेद मेरे द्वारा अध्ययन के योग्य जो ब्रह्म है वेद है वो वेद तुम माने त्वया अध्ययन कर रहे हो आज के बाद तुमने अध्ययन करना है आज तक तो मैं अध्ययन कर रहा था आज के बाद तुमने करना है क्यों ऋषि ऋण है तो ऋषि ऋण चुकाना आज तो मैंने चुकाया अब तुमने चुकाना है ऋषि ऋण हमेशा चुकाया नहीं जाएगा करते ही काम पड़ेगा ऋषि ऋण है दूसरा माया कर्तव्य यज्ञ त्वया कर्तव्य तुम यज्ञ का अध्यय है मेरे द्वारा जो कर्तव्य किया था वह यज्ञ तुम्हारे द्वारा कर्तव्य होगा आज देव ऋण चुकाना है देव ऋण भी है साथ में तीन ऋण से युक्त होता है जायमान और ब्राह्मण ऋण त्रयवान जायते ऐसा आया है मंत्र में जो भी शरीर मनुष्य पैदा होता है तो तीन ऋण से युक्त पैदा होता है पितृण देव ऋण स्त्री ऋण तो वो ऋण को चुकाने के लिए आज तक तो मैं कर रहा था अब तुमने कर रहा है यही कारण है ये कहा मया कर्तव्य किया मेरे द्वारा जो करना था देव ऋण चुकाने के लिए वो आज के बाद तुमने कर तम लोक आगे कहा आगे मया संपाद्यो अयम लोक मेरे द्वारा संपन्न किए जाने वाले लोक एक एक फल है लोक त्वम मैं त्वया संपाद्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होना चाहिए लोग कर्म का फल आगे तुम्हें संपन्न करना कहा त्वया संपाद्य चारित्व कहा लोके पुत्रादि उत्पादन द्वारा नामस्थिति संपादन लोक संपादन करते हैं लोक में जो पुत्र आदि के उत्पादन के द्वारा अपने नाम की स्थिति बनाना है परंपरा चलाना एक लोग संपादन है कहा क्यों पुत्र अयम लोग को चाहिए है इतने इतम पुत्र अनुशिष्ट सन इस प्रकार से पुत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त जो पुत्र है ऐसा होता हुआ पुत्रो ऐसा पुत्र क्या करता है बोलता है अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक वो भी ऐसे बोलता है मैं वेद पढ़ूंगा आज के बाद आज तक आप पढ़ रहे थे आपके बाद में पढ़ूंगा और एक मैं करूंगा प्रतिज्ञा तो करता है क्योंकि इनका लोप नहीं होना चाहिए ये तीनों चलते रहना चाहिए क्यों सबके लिए देवऋण ऋषि ऋण पितृण लगा हुआ है तो वो चुकाना है तो आज तक मैं करता रहा मैं कर नहीं पा रहा हूं आज से तुमने करना वो टूटा नहीं करूंगा ये बोलता है ये प्रतिबद्धि करना है तो ये कहा अहम ब्रह्म में अहम यज्ञ अवलोक थी प्रतिबद्ध थे वो भी ऐसे प्रतिज्ञा करता है मानता है ये कहा माने अहम ब्रह्म अध्यक्ष कहा मैं वेद को आगे पढ़ूंगा माने मया ब्रह्म अध्यक्ष हो जाएगा मेरे द्वारा वेद पढ़ा जाएगा ये ज्ञान करी से यज्ञ को करूंगा आगे मैं करूंगा लोकम संपादन हमें लोक के संपादन करूंगा इति स्वीकरोती पिता ने जो कहा आदेश दिया उसको स्वीकार करता है पुत्र अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ अहम लोक करके स्वीकार करता है इसको संप्रतिपत्ति विद्या कहा है बेटा माने संप्रदान करना सम्यक प्रदानम अपने संपत्ति उसकी संपत्ति भी अपने को देना ना स्वशरीर तृतीय अवस्था होता है इसलिए अपने शरीर की तृतीय अवस्था बताई उसने क्यों अपुत्र रूप में हो गया तृतीय अवस्था पहले तो अपने शरीर में माने गर्भ अवस्था में रहा उसके बाद में पत्नी के शरीर में रहा हुआ और पुत्र के शरीर में हो गया तृतीय अवस्था होता रहा पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं पांच में कहा अनेक पुत्र से प्रतिनिधित्व कथन है पुत्र का प्रतिनिधि बनाने से पिता ही तो प्रतिनिधि बनाया जाता है अपने काम के लिए तृतीय अवस्था उसकी हो जाती है पुत्र को प्रतिनिधि बनाने से कहा स्वशरीर तृतीय अवस्था उठा कहा तृतीय अवस्था पुत्र से स्वशरीर तृतीय तृतीय शरीर को तृतीय अवस्थित अवस्थिति हाँ। माने पुत्र का शरीर जो होगा अपने शरीर की अपेक्षा तृतीय हो जाएगी अवस्था मैंने अवस्थित रहना होगा द्रष्टव्य तो। प्रतिनिधित्व अनंतरम स्वातंत्र तदुक्ति प्रतिनिधित्व के अनंतर स्वतंत्र हो जाता है जब तब उसकी मृत्यु के लिए स्वतंत्र होगा तब तक तो उसके ऊपर वेद आदि पढ़ना का काम था अब स्वतंत्र हो गया वो प्रतिनिधि बना दिया पुत्र को अब स्वतंत्र होगा पिता ठीक है मैं कहते हैं नो किमर्थम पुत्रम प्रतिनिधिता स्वयं तो करो तो ऐसे जानता है अपने आप का आज तक कर रहा था वेद पढ़ रहा था स्वशाखा अध्यतव्य अध्ययन कर रहा था हाँ और ऋषि ऋण के लिए स्वशाखा अध्यतव्य का पालन कर रहा था देव ऋण चुकाने के लिए भी कर रहा था हाँ, पितृण चुकाने के लिए पुत्र भी पैदा कर दिया है तर्पण आदि कर रहा था आगे तर्पण आदि के पुत्र पैदा हो गया है अब कहते हैं किमर्थम पुत्र प्रतिनिधि पुत्र के प्रतिनिधि क्यों बनाता है प्रतिनिधि क्यों बनाता है ये पूर्व स्थापन मत कहा है तू को स्थापित क्यों करता है प्रतिनिधि क्यों बनाता है ये पूर्वो धा करो करते अभी पूर्वस्थ भाषण है संपूर्व मेल संपूर्व मेल में चाहती ये पूर्व स्थापन मत प्रतिनिधि यहां बनाता है प्रतिनिधि ददाती मानी प्रतिनिधि को बनाता है स्वयं तो करो तू वो स्वयं करे आगे भेद वही पढ़े स्वयं पढ़े एक एक करे हाँ, स्वयं काम करे क्यों क्यों बनाता है तो कहा इतिहास शंका कर कहा स्वस्थ मरणात् अपने मरण का समय हो गया है अब अपने से होना नहीं है स्वस्थ मरणा कर तुम असक्त असक्त है करने में समर्थ नहीं अब मरण के सामिप्य है और करने में शक्ति नहीं है अशक्ति नहीं है इति अभिप्रायण उत्तम अतः अश्य की अभिया चष्टे कहा ऐसी अभिप्राय से कहा गया इसलिए अथ अस्याम अयम इत्यादि था मंत्र विधा द्वितीय लाइन में अथाश्य अथाश्य अयम उतरात्मा कृतिवित्व को एवं तो करती इसका अर्थ करते हैं कहा टिप्पणी सात की है मरणात्मा ने मरणोन्मुखत्वात यहां मरण तो नहीं हुआ है मरणोन्मुख हो गया मरण की तैयारी है इसलिए पुत्र को प्रतिनिधि बनाता है ये कहा और भाष्य में कहते अथ अनंतरम उसके पश्चात जब पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया उसके पश्चात अनंतरम पुत्रे निवेश आत्मनोभारम जो बोझ अपने ऊपर था भार मैंने बोझ जो बोझ था देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण के लिए वेद पढ़ना था यज्ञ करना था पितरों के लिए तर्पण आदि करना था आज पुत्र के ऊपर दे दिया बोझ अतः अनंतरम पुत्रे निवेश आत्मनोभारम अपना जो बोझ है पुत्र को दे के अश्य पुत्र से पितरो अयम या पितरात्मा इस पुत्र का जो दूसरे आत्मा है मानी पितारूप आत्मा पितारूप शरीर है पितृरूप शरीर है वह कृतकृत्य कर्तव्यात ऋणत्रयात विमुक्त कृतकृत्य यही है तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया है वो रहित तीनों ऋणों से रहित हो गया है देव ऋण ऋषि ऋण पितृ से कृत कर्तव्य कर्तव्य सारा पूरा कर लिया जिसने उसको कृत कर्तव्य अब कर्तव्य शेष है उसका एक कहा एक की टिप्पणी कहा अश्य पुत्र से थी अत्र दीपिका कृता व्याख्यातम दीपिका कार ने ऐसा कहा है अश्य पितुर इतरात्मा स्थविरोधी है ऐसा अर्थ किया है तदेत युक्तम यहां भी ऐसे पाठ ठीक होना चाहिए भाष्य दीपिका कार ने जैसे कहा अश्य पितुर इस पुत्र का जो पिता है इस पिता का जो इतर आत्मा स्थविरा ऐसा इतर थमिरो देह इस पिता का जो शरीर था जीर्ण शरीर वो वो अर्थ अच्छा होता है कहते हैं भाष्य में कहा वयोगत गत वया आयु चली गई जिसकी ऐसा हो जीर्ण जीर्ण से हो गया जीर्णासन प्रति मैंने थे ऐसा होकर के अब यहां से चल पड़ता है स ये तो अस्मात् प्रयम शरीरम परित्यजन एवं हाँ, जब यहां से निकलने लगता है निकलता है तो कहते हैं तृणजलुकावत देहांतरम उपादान कर्मचितम पुनर्जाए थे फिर जैसे जोंक जो होता है जलु का जोंक पहले आगे वाले तीन के रूप करता है तो पीछे वाले को छोड़ता है तो यहां भी तृणजलुका के समान ही इसके आगे मरण होना चाहिए पहले आगे का शरीर को पकड़ेगा और ये पीछे का शरीर तब छोड़ेगा तृणजलुका का दृष्टान किया कैसे होगा पहले यहां मरेगा मरने के बाद में लोकांतर में पहुंचेगा तब वहां जाकर के आगे शरीर लेना होगा कर्म के आधार पर पहले आगे का शरीर कैसे प्राप्त करता है अपने अंतिम क्षण में उसके संस्कार ऐसा जग जाता है आगे के शरीर उसके सामने हो जाता है वो वृत्ति बन जाती है मेन बात स्मरण भावम तेजतन ते कलेवरम तम तमे वैति कौन तेज सदा तो तत्भावित रहा अंतिम समय में जैसी जिस वृत्ति बनेगी मन में जो आकार आएगा वही शरीर आगे होना है माने अंतिम वृत्ति वही बनना है जो आगे होने वाला है वही वृत्ति बनना स्थिति वो वृत्ति बनना ही या आगे के शरीर को पकड़ना है कि आगे का शरीर यह शरीर छोड़ने के बाद पकड़ेगा किंतु त्रिडुदलुआ का दृष्टांत दिया हुआ जगह तो इससे सिद्ध होता है कि पहले अंतिम समय में वो वृत्ति बन जाती है अगला शरीर का दृष्टि आएगा उसके साथ अंतिम अंतिम वृत्ति उसके आगे कोई वृत्ति नहीं होगी तो उसको वृत्ति को ही यहां त्रिण का दृष्टान वो वृत्ति बनेगी उसके बाद शरीर छोड़ेगा फिर का शरीर तो कालांतर में प्राप्त करेगा ये स्थिति है तो स ये तो माने यहां से स ये तो, स वो जो पिता शरीर है अस्मात प्रयन इस शरीर से निकलता हुआ शरीर हम परित्यज इस शरीर को परित्याग करके परित्यजन और परित्याग करता हुआ तृण जलुका पर कैसे परित्याग करता है तृण जलुका के समान जैसे जो तीन के एक तीन को छोड़ता है दूसरे तीन को पकड़ता है किंतु पहले छोड़ता नहीं पहले पकड़ता है बाद में छोड़ता है पहले आगे वाले पकड़ता है तो पीछे वाला तक छोड़ता है ठीक इसी प्रकार की गति है पहले आगे शरीर को पकड़ेगा बाद में पीछे शरीर को छोड़ेगा आगे शरीर पकड़ना माने मनोवृत्ति ऐसे बन जाती है उस काल अंतिम समय वही योग पकड़ना शरीर तो बाद में मिलेगा उसको ये स्थिति है तृणजलुगावत हाँ, जलुगा के समान जो के समान देहांतरम उपादान शरीरांतर को ग्रहण करता हुआ पहले शरीर को छोड़ता हुआ और देहांतर को ग्रहण करता हुआ कर्मचतम के अपने कर्म से प्राप्त जैसा होगा उसको जो मिलना होगा फिर पैदा हो जाएगा जिस शरीर को प्राप्त होना होगा कर्म के आधार पर चौरासी लाख उम्र में कौन सा शरीर प्राप्त होना है वो शरीर को प्राप्त होगा प्राप्त हो जाएगा ये कहा अच्छा स ये तो अस्मात में दो तीन की टिप्पणी में रहा दो में कहते हैं स माने वृद्ध पिता इतना तो माने अस्मात इतना तो माने जीर्ण देहात इस जीर्ण देहा से निकलता हुआ ऐसा अर्थ करना ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं तदस्य मृत्यु प्रतिपत्तव्यम या तत्तृतीय जन्म उस पिता का मरने के बाद में जो प्राप्तव्य जन्म है जिसको प्राप्त करना है आगे शरीर प्राप्त करना है या तत् तृतीय जन्म वो वो शरीर प्राप्त करना जो होगा वो तृतीय जन्म माना जाएगा दो जन्म पहले हो चुका है पुत्र के रूप में अब ये पिता मर करके तीसरा शरीर प्राप्त करना तृतीय जन्म है तो यहां शंका होती है पुत्र के तृतीय जन्म बताना चाहिए पुत्र की चर्चा चल रही थी पिता के शरीर में गर्भ शिशु रूप गर्भ रूप में रेतु रूप में पुत्र रहा हुआ है मातृ शरीर में पुत्र पहुंचा हुआ है वही पुत्र अभी प्रतिनिधि बना हुआ हो तो किंतु अब तृतीय जन्म का जैसे पिता का तृतीय जन्म दिखा रहे हैं दो जन्म तो पुत्र का हुआ है ये शंका है यही शंका करते हैं नमो संसरत पितु जो संसरण करने वाले जो जीव है उसका संसरण करना संसार में घूमने वाला जो जीव है इसका जीव का पितु सकाशाद रेतु रूपेण प्रथम जन्म पिता के सान्निध्य से माध्यम से वीर्य रूप से प्रथम जन्म हुआ है उसका पिता पितृ के शरीर से बाहर निकला हुआ है तो एक जन्म हुआ है पुत्र पुत्र संसरण करने वाला जीव का है वो जो जीव चल रहा था उसका पिता रूप जीव नहीं है दूसरा जीव है संसरता संसरण करने वाला जो जीव है इसका पितु सकाशात रेतु रूपेण प्रथम जन्म पिता के माध्यम से जो रेतु से बाहर आया मातृ शरीर में आया वो प्रथम जन्म उसका है तस्व कुमार रूपेणा मातुर द्वितीय जन्म उत्तम फिर उसी का माता के शरीर से बाहर आना द्वितीय जन्म उसी संसार संसरण करने वाले का कहा माने पुत्र रूप को कहा हुआ है जन्म उत्तम तस्व तृतीय जन्म उसी के तृतीय जन्म बताना चाहिए था जिसके दो जन्म पहले कहा गया उसी को कहना चाहिए था जंतु स्थिति में वर्तते प्रयत पितुर एक जन्म तक तृतीय में कथम है फिर जो प्रयाण करने वाला पिता है उसके जो प्रयाण हो रहा है वो तृतीय जो जन्म हो रहा है तृतीय जन्म कैसे कहा गया दो जन्म तो पुत्र के बारे में आया तृतीय जन्म पिता कहां से आया ये शंका यही शंका है टिप्पणी दो तीन की टिप्पणी है दो में कहा संसार तो मैंने पुत्र रूप जीव से जो पुत्र रूप जीव है तो उसका पिता के शरीर से जो निकला एक बार वो प्रथम जन्म है फिर माता के शरीर से निकला तो दूसरा जन्म हो गया उसका ओ, फिर तीसरा जन्म उसी को बतलाना था टिप्पणी तीन की मातु माने मातु सकाशा माता के सामने जिससे बाहर आना है माता के बाद में द्वितीय जन्म उसका होगा तो अब उसी के लिए तृतीय जन्म कहना था किंतु तृतीय जन्म पिता का बोल रहे हैं उसको प्रतिनिधि बना दिया दो जन्म वाले को तो और जो वयोगत हो गया है पिता उसके तृतीय जन्म बताया जब यह शरीर को छोड़ करके जाता है तृतीय जन्म ये कैसे बता दूंगा ये शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं दोष है ये कोई दोष नहीं है क्यों पिता पुत्र और एकात्म से विवक्षित पिता और पुत्र के एकता विवक्षित है आत्मा भी चाहते पुत्र स्वयं ही पुत्र रूप से पैदा होता है ऐसा कहा होता है एकत्व तो कहा है और तैतरीय उपनिषद के भाष्य वार्तिक में सुरेश्वराचार्य ने ऐसा बता दिया है या माता सा पुनर्भारिया या भारिया जननी हिषा या पिता स पुनः पुत्रो पुत्र यह पुत्र स पुनः पिता ऐसा कहा जो आज माता है कल भारिया बन जाएगी जो आज भारिया है कल माता बन जाएगी इस संसार के अनुभूति में चाहिए इसलिए सुरेश्वराचार्य ने ऐसा लिखा है यह पिता स पुनः पुत्र या पुत्र स पुनः पिता जो पिता होगा कालांतर में पुत्र रूप में आएगा जो पुत्र होगा कालांतर में पिता रूप में आएगा ऐसी स्थिति है ऐसा बताया हुआ है <clears throat> यह संसार ऐसी स्थिति में बताया हुआ है क्यों अभी जो माता बनी है हमेशा माता नहीं बनेगी अभी जो पुत्र बना है हमेशा पुत्र है कभी उस पुत्र का हम पुत्र हो जाएंगे आज हमारा पुत्र है कालांतर में जाकर के कहां कहां घूमने के बाद हो सकता है उसका पुत्र होना पड़े कोई पता नहीं यानी कि पिता पिता ही रहेगा संसार चक्र भी तो ऐसे चक्र है संसार चक्र विडंबना बहुत है तो नहीं सदोष करेगा पिता पुत्र और एकात्म से विवक्षित पिता पुत्र के एकता एक ही है पिता ही पुत्र रूप से पैदा हुआ है तो पुत्र एक होने पर और अब पिता चला गया एक ही बात है इसलिए तृतीय जन्म में उसी का माना जाएगा सोपी पुत्र स्वपुत्रे भारम निधाया इत प्रयम पुनर्जाय थे तथा पिता वो जो पुत्र है अभी जो पिता का बोझ लेके बैठा हुआ है अहम यज्ञ अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ हम लोग का बोल के बैठा हुआ है यहाँ वेद पढ़ता रहूंगा यज्ञ करता रहूंगा पितरों का तर्पण आदि करता रहूंगा तर्पण करता रहूंगा ऐसा जो बोला हुआ है उसमें प्रतिज्ञा दी हुई है तो वो जो पुत्र है वह भी आगे अपने पुत्र को बाहर सौंप करके वो भी चला जाएगा ना से रहना किसी को भी नहीं है यहाँ थोड़ी देर के लिए है जो भी दायित्व मिलता है थोड़ी देर के मिलता है उसके बाद फिर दायित्व दूसरे के पास चल जाएगी चल दायित्व लेने वाले चल जाएंगे दायित्व बनी जाएंगे वास्तविक में पदाधिकार जितने भी ऐसे ऐसा है जितने भी पदाधिकार है आज आपके पास है कल वो दूसरे के पास चल जाना है हो सकता है आपके शरीर के बाद हो या पहले भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है इसे चलता है कहा सोपी पुत्र इत्यादि कहा सोपी पुत्र वो जो पुत्र पिता के बोझ लेके बैठा है जो वो पुत्र भी सो हाँ, स्वपुत्रे भारत जाए फिर अपने पुत्र को बोझ सौंपेगा वो वो भी ऐसे बोलेगा पुत्र को बुला करके अंतिम समय में जैसे पिता ने हमें कहा था हम भी पुत्र को ऐसे बोलेंगे पुत्र स्वपुत्रे भारत जाए अपने पुत्र में इस तीनों ऋणों को सौंप करके इत प्रयन एवं फिर यहां से निकलने पर उसको भी निकलना पुत्र को भी जैसे पिता निकला पुत्र भी निकलेगा यहां से निकलता हुआ ही पुनर्जाए थे फिर अपने कर्म के आधार पर किसी न किसी शरीर में पैदा होगा वो उसके भी वो तृतीय जन्म हो जाएगा वहां जाकर तृतीय जन्म बन जाएगा स्थिति ये बन जाएगा यथा पिता जैसे पिता का तृतीय जन्म हो गया उसी प्रकार इसका भी तृतीय जन्म हो जाएगा तद अन्यत्र उत्तम इतना भी उत्तम होती एक में कहा दूसरे के लिए हो जाता है तब अन्यत्र उत्तम मैंने जो जन्म तृतीय जन्म अन्यत्र पिता में जो कहा गया था इतरत्र पुत्र के लिए भी वही बनेगा उसकी प्रक्रिया वही है उत्तर होगी मन्यते श्रुतिया से श्रुति मानती है कहा क्यों तो कहा पिता पुत्र और एकात्मत्वा पिता और पुत्र की एकता है भिन्न नहीं है एक ही हो जाता है कहा चार और पांच की टिप्पणी चार में कहा अन्यत्र पितरी पिता में जो कहा गया भी उत्तम तरत्राभिभूतम जो है पुत्रे भी पुत्र भी कहा हो जाता है एक ही बात है ये बताया अच्छा। ठीक है हमें कहते हैं एवकारार्थम मध्य विलंबा भाव दर्शय ही कहते हैं एवकार का अर्थ दिखाते हैं परित्यजम एवं शरीर छोड़ता हुआ ही वहां एवकार एवकार हम एवकार का मध्य विलंब एवकार लगने से क्या होगा ऐसा करता हुआ ही ऐसा करता है जाने से वहां विलंब नहीं होता बीच में ऐसा काम करता हुआ ही यह काम करता है बीच में विलंब नहीं रहता इस प्रकार यहां भी शरीरम परित्यजन एवं जल का वह देहांतरम उपादान कहा शरीर को परित्याग करता हुआ दूसरा शरीर ग्रहण करता हुआ व्यवधान नहीं काल का व्यवधान नहीं तुरंत ऐसा है एक कहा एवकाराधम मध्य विलंबाभाव दर्शेगी तृणगलुकावत इत्यादि कहा जैसे झोंक एक तिनके से दूसरे तिनके में जाता है तो पहले आगे के तिनका पकड़ता है बाद में पीछे के तिनका को छोड़ता है ठीक इसी प्रकार जीव भी जब इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहा है तो पहले दूसरे आगामी शरीर को पकड़ता है बाद में इस शरीर को छोड़ता है तो आगामी शरीर कैसे पकड़ना अंतिम काल की मनोवृत्ति अंतिम काल के जो मन में वो वृत्ति आ जाएगी आगे क्या होना है इसको कोई वृत्ति आएगी ऐसा कहा गया है तो इसलिए कोई वृत्ति के आधार पर आगे शरीर प्राप्त होना है इसलिए यम यम बाप स्मरण भाव हम कले वर देता है जैसे जैसे भावना अंतिम काल में बनेगी वही तो बनना है उसमें इसलिए कहा तस्मात सर्वेशु कालेशु मामल स्मरण इसलिए हमेशा मेरा ही स्मरण करो हो सकता है अंतिम काल में मेरा ही स्मरण हो जाए तो मेरे स्वरूप बन जाओगे अभी से लग जाओ ये कहते हैं भगवान भविष्य में हो ये कहा तृणजल का तृणस्य अंतम गत्वा तृणांतरम आक्रम्य आत्मा देहम पूर्वस्मा तृणा उपसंहरती पूर्वम तृणम मुंचती एक कहा जैसे तृणजल का जोंक जिसको जोंक बोलते हैं हिंदी आदि में तृणजल का है तृण से अंतम गत्वा एक के भी चलता है तो उस तीन के आखिर में जब पहुंच जाता है तृण के अंतिम में पहुंचता है घास के अंतिम में पहुंचकर त्रिवांतरम आक्रमण दूसरे तिनके को पकड़ करके त्रिवांतरम आक्रमण आत्मान देहम आत्मा माने अपने शरीर को आत्मा माने शरीर है अपने शरीर को पूर्वस्मा त्रिणांत उपसंग पूर्व वाले तिनके से अपने को हटा लेता है उपसंगार कर लेता है ये दूसरे तिनके में अपने शरीर को ला लेता है ये कहा पूर्व त्रिणम पूर्व पहले वाले तिनके को छोड़ देता है यह अर्थ है एवं एवं एवं आत्मा यह आत्मा के लिए स्थिति है कोई योग के समान है ये जब यहां से दूसरे लोक में जाना है दूसरे शरीर में जाना है तो स्थिति है अयमेव अयम आत्मा तरम परिक्रिया पहले आगे के शरीर को पकड़ेगा ये क्या शरीर पाना है कर्म के आधार पर कौन से शरीर मिलना है इसको वो शरीर पकड़ता है माने अंतिम मनोवृत्ति वो बन जाती है इसको कोई पकड़ना है एवं ये एवं महात्मा देहांतरम परिक्रिया अन्य शरीर को ग्रहण करता हुआ ग्रहण करके पूर्व देहम उच्चति पहले वाला शरीर को तथ्य होता है ये कहा यदि मध्य विलंबा भाव है या मध्य में कोई विलंब नहीं हाँ, उसको पकड़ना इसको छोड़ना साथ हो जाता है श्रुत्यंतर उगता है ऐसा श्रुति में कहा वृद्धारण में ऐसा कहा है वृद्धारण श्रुति में ऐसे त्रिवेंद्र का दृष्टांत दिया है कर्मचितम देहांतरम उपादान कर्म के फलस्वरूप जैसा कर्म किया होगा उसके आधार पर शरीर प्राप्त करता हुआ कर्म के द्वारा एकत्रित जो शरीर अंतर है अन्य शरीर उसको ग्रहण करता हुआ पुनर्जाय के ज्ञान होया फिर पैदा होता है कहा यद्यपि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छताम लोकांतरे एवं शरीर ग्रहण उत्तम यद्यपि देखो जब यह शिव शरीर छोड़ता है तो अपने कर्म के आधार पर उपासना है या कर्म है उसके आधार पर देवयान या पितृयान मार्ग से जाकर के मैं देवलोक या स्वर्गलोक जाने के बाद भी तो शरीर ग्रहण करेगा पहले शरीर कैसे ग्रहण करता है यदि स्थिति तो यह है पहले शरीर छोड़ेगा फिर इन मार्ग से चल के जाएगा उत्तरायण मार्ग हो दक्षिण मार्ग हो जाएगा या तृतीय मार्ग होगा या यशु ग्रीष्म वाला चौरासी में घूमने वाला मार्ग होगा तीन मार्ग है अच्छे कर्म करने वाले और उपासना करने वाले तो ये दो मार्ग की चर्चा है अन्य को कर्म उपासना में करने वाले हैं मनमाना करने वालों के लिए तृतीय मार्ग भी एक है जाए सुग्रेश वाला जन, जनमनम मरना जन्मना मरना करते करते करते चौरासी काट के आना है वो भी एक है तो यद्यपि स्थिति तो यह है ये शरीर छोड़ना फिर अपने कर्म के आधार पर कहा जाना मार्ग चल के जाना उसके बाद वहां पहुंचने के बाद शरीर ग्रहण करना या पहले वो शरीर ग्रहण करता कैसे बोला ये शंका है ये बातें चल रहा है यद्यपि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छाम देवयान मार्ग या पितृयान मार्ग से जाने वाला था लोकांतर एवं शरीर ग्रहण उत्तम लो, हाँ, लोकांतर में जाकर के शरीर प्राप्त होना कहा गया शास्त्रों में यहां पर अभी शरीर प्राप्त नहीं करता आगामी शरीर उत्तम उभय व्यामोह तत्सिद्ध सिद्ध ब्रह्मसूत्र में ऐसे कहा है क्यों वहां आतिवाहिक देवता की आवश्यकता है क्यों मार्ग भी अज्ञान है मार्ग जानता नहीं कहां ले जाना है इसको जो अभी भरा हुआ व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है ये भी होश में नहीं क्यों इंद्रिया जब अपने गोलक में बैठी हुई तो होश आवास में होता था गोलक से बिछुड़ गई ये इंद्रिया फूल शरीर से बाहर बहिर्भूत आए वे भी बेहोशी अवस्था में है तो दोनों के दोनों व्यामोह में अज्ञान में डूबे हुए हैं मार्ग भी नहीं जानता कहां ले जाना है जाने वाला जो गंता है उसको भी पता नहीं कहां जाना है इसलिए वहां आतिवाहिक देवता की आवश्यकता है उनको ले जाने वाला आतिवाहिक पोस्टमैन की आवश्यकता है हाँ, ये नाक के थैले के भीतर ये तरह जाता है ऐसा आया है तो उभय तब तत्सिद्धे कहा उभय के व्यामोह होने के कारण आतिवाहिक देवता की सिद्धि है मार्ग में ले जाने वाला आतिवाहिक देवता की आवश्यकता है ये ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया है ये कहा नौ नंबर के टिप्पणी कहा वह व्यामोह मार्ग तदगंत्रो और व्यामोहार मार्ग भी अज्ञान में है और वहां जाने वाला व्यक्ति भी अज्ञान में है क्यों उसके इंद्रिया अभी गोलक में बैठी हुई नहीं है डॉक्टर सीरा लगाएगा ऑपरेशन करता है किंतु ऑपरेशन थिएटर में कर पाता सड़क में बैठे नहीं कर सकता ये इंद्रिया भी ऐसी है अपने गोलक में बैठेगी तभी होश आवाज में होती है यहां से अलग होने के बाद कुछ नहीं कर सकते व्यामोह है अज्ञान में डूबे हुए हैं ये अर्थ करता है मार्ग तदगंत्रोर मार्ग और उसमें जाने वाला जो यात्री है अपने कर्म के फल भोगने के लिए जा रहा जो यात्री दोनों का व्यामोहात माने अज्ञत्वा दोनों अज्ञानी है जाने वाले को पता नहीं मैंने कहा जाना है जिस रास्ते में जा रहा है रास्ते को पता नहीं कहाँ ले जाना है इसलिए आतिवाहिक देवता की आवश्यकता है ये बताया ब्रह्मसूत्र गमयित्री देवता सिद्धि है उसको ले जाने वाला देवता की सिद्धि है वो ब्रह्म सूत्र का याद है उभय व्यामोहा तत्सिद्ध सूत्र का याद होता है ये कहा समय हो गया है फिर करेंगे आज ओम बामे मनसी प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित वेद से मानस्तः ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सर्वतारवतु अवतु अवतु अवतु वक्तार